और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोगों को मुंह के बल आग में डाल दिया जाएगा तुम्हें किसी और बात की नहीं उन्हीं आमाल की सजा दी जाएगी जो तुम किया करते थे